ओमाप्यायन्तु ममाङ्गानि प्राणश्चक्षुः श्रोत्रमथो सर्व चतुर्थ अध्याय तृतीय खंड ष्ठ मंत्र तक विचार हो गया था जिसमें प्रसंग था ये संवर्ग विद्या के जानकार दो ऋषि थे एक कापे असौनक और एक अभिप्रकार काक्षसेन ये दोनों संवर्ग विद्या में निपुण थे तो एक दिन वो भोजन परोसा जा रहा था उन दोनों के लिए तो एक ब्रह्मचारी आकर के भिक्षा मांगी भिक्षा मांगी तो उन्होंने भिक्षा क्या ये ब्रह्मचारी थोड़ा ब्रह्म विद्या विद्या में कुशल हूं ऐसा मान्यता जैसे देखा चेहरे को देख करके भिक्षा नहीं दी तो ब्रह्मचारी ने कहा कि एक देवता ऐसा जो देवता है चार बड़े बड़े देवता को जिसने खा लिया ऐसा देवता है वो प्रजापति है अथवा कौन देवता है वो प्रश्न भी हो सकता है एक आप तो उस देवता ने चार बड़े बड़े महात्मा को खा लिया है अभिप्रतारी को कहा और वो माने मनुष्य लोग उसको नहीं जानते सामान्य लोग उसको नहीं जानते उस देवता को माने मैं उस देवता भाव में हूं ब्रह्मचारी का कथन है और अभिप्रतारी को भी कहा वो अनेक प्रकार से बैठा हुआ है देवता अध्यात्म अधिभूत अधिक रूप से वही साया विद्यमान वही देवता है उस देवता को जिसके लिए अन्न बनता है उसी को नहीं दिया गया ऐसा बोल दिया उसने माने मुझे जो भिक्षा नहीं दिया माने उस परमात्मा को ही नहीं दिया मैं परमात्मा से अभिन्न हूं ये ब्रह्मचारी का भाव था ये कहा तो वो कापेय सौनक समझ गया हाँ ये जानकार है ऐसा लगा आगे मंत्र इसके साथ है मंत्र है आगे तरुह सौनक कापेय प्रतिमान प्रत्यय आत्मा देवानाम जनिता प्रजानाम हिरण्यदष्ट्रो बवस अनसूरी महांतम अस्य महिमानम आहु अनत्यमानो यन्नम अतीति वै वयम ब्रह्मचारी नेदम उपासमये दत्तास्मै भिक्षाम् इति तदुह सौनककापेय प्रतिमन्वान प्रत्ययाय आत्मा देवानाम् जनिता प्रजानाम् हिरण्यदष्ट्रो भवसो अनसूरी महान्तम् अस्य महिमानमाहु अनद्यमानो यद अनन्नम अत्येति वै वयम ब्रह्मचारी नेगमुपास्महे दत्तास्म वीक्षाम तब <clears throat> ब्रह्मचारी का वचन को तत्व से लेना जो ब्रह्मचारी ने कहा था एक देवता है पूर्व में जो उसका वचन था पूर्व मंत्र में तद माने वचनम उस वाक्य ब्रह्मचारी के वाक्य है पूर्व मंत्र में एक महात्मा ने सबको खा लिया है सब महात्मा है सबके बैठा हुआ अनेक रूप से बैठा हुआ है और जिसके लिए अन्न पकाया उसी को नहीं दिया गया ऐसा शब्द बोला तद माने वचन ब्रह्मचारी में बचा उस ब्रह्मचारी का वचन वह यहां कोई अर्थ नहीं रखता सौनक का कापेय प्रतिबंधमान प्रत्यय जो सुनक का पुत्र है सौनक कवि गोत्र का ऐसा काव्य है प्रतिबंधमान उसको मनन करता हुआ उस बात के ऊपर में ध्यान दिया ये ब्रह्मचारी जो बोल रहा है ऐसा देखा ठीक बोल रहा है ऐसा लगा तो उसका मनन करता हुआ प्रति ए ए आया प्रति आ ई आया आंग लगा है ई आया गया ए आया आया उसके पास आया इस बात को चिंतन करता हुआ आया ये ब्रह्मचारी ने जो बोला लिट लगा ई आया लिट आया आंग लगाने से ए आया हो गया उसके पास आया कौन आया तो उसके पास आया वो जो सौनक का पे आया ब्रह्मचारी के पास आया आकर के बोलता है हाँ मैं उस देवता को जानता हूं तुमने जिस देवता के बारे में कहा था मरते लोग नहीं जानते कहा मैं जानता हूं आत्मा सर्वभूता नाम आत्मा सारे प्राणियों का स्वरूप है उसी में सारे प्राणी कल्पित है ये बोलना चाहता है आत्मा देवानाम चरिता प्रजानाम देवताओं का और प्रजाओं का उत्पत्ति करता भी है वो अथवा आत्मा देवानाम जनिता प्रजानाम ऐसा भी हो सकता है दो प्रकार के अर्थ भाष्य में करेंगे संपूर्ण प्राणियों का आत्मा है वो और देवताओं को ग्रसन करके पैदा करने वाला वही है क्योंकि पैदा होने के लिए पहले मरना पड़ता है और सारे प्रजाओं का भी उत्पत्ति करने वाला वही देवता है और उसके दाढ़ इतने मजबूत है हिरण्य दष्ट्र कहा है दाढ़ बहुत मजबूत बहुत खाया खाएगा आगे भी दांत टूटने वाली दांत नहीं है हिरण्य दाटा सोना ऐसी वस्तु है किसी गलता भी नहीं है अग्नि से जलता भी नहीं है अग्नि में भी सोना जव का त्यो रह जाता है सोना धा सुवर्ण धातु ऐसा ले हिरण्य दृष्टा मान अभग्न दृष्टवा शिकार करके उनके उसका दाढ़ कभी टूटने वाला नहीं है ऐसा दाढ़ वाला है बाबा बाबा साहब का अर्थ कहते हैं भक्षणशील बहुत खाने वाला है भाष्यकार ऐसा करते और अनसूरी में दो बार नया समास है सूरी माने वेधा भी न सूरी असूरी मेधा रहित और न न असूरी अनसूरी अवश्य मेधा भी है वो बुद्धिमान है अनसूरी महानतम अस्य महिमानम आहो इसके महिमान महान महिमा कहते हैं ब्रह्मदत्ता लोग इसकी महिमा को बहुत मानते हैं मतलब ब्रह्मचारी को सुना रहा है सौम्य काव्य है इस देव की महिमा को बहुत कहते हैं ब्रह्मदत्ता लोग कहा और अनद्यमान अन्य के द्वारा अद्यमान नहीं है न अद्यमान अनद्यमान अन्य के द्वारा खाया नहीं जाता हो हम्म, उसको खाने वाला कोई नहीं संसार में अनद्यमान न अद्यमान अनद्यमान न समास है खाया नहीं जाता अन्य के द्वारा नहीं अनद्य माना यद अनन्न बत्ती जो अन्न नहीं है वास्तव में उसको खाता है वो अग्नि आदित्य चंद्र जल अन्न नहीं इधर बात चक्षु स्रोत्र मन या अन्न नहीं उसको खा जाता है संवर्ग है क्योंकि सुश्रुति काल में सबको ये खा जाता है प्राण बाघ आदि को खाता है अन्न नहीं है अनन्न है वो न अन्न अनन्न उनको खाता है अति और उधर जो प्रलय काल में सबके सबको ही खाने वाला है वायु अधिदैविक वायु इसलिए यद अनन्नम अति जो अन्न नहीं है उसको खाने वाला है यत माने यशमात करेंगे कारण यत माने यशमात जिस कारण से अन्न नहीं उसको खाता है देवता ऐसा इति वय का कोई अर्थ नहीं है वयम ब्रह्मचारिण आगे आ इदम उपासना है वयम ब्रह्मचारी हम इसी की उपासना करते हैं आ इदम उपासमय आ उपासमय है इदम आ उपासमय ऐसा होगा या नेदम बना हुआ है ब्रह्मचारी में नकार है आगे अच है एदम बना हुआ आ इदम एदम वहां पर नपो जी नमो नित्यम लग करके लूट का आरोप रखा है नेदम उपासना नहीं हम इसकी उपासना नहीं करते नहीं हम इसी की उपासना करते ये आता है ब्रह्मचारी ब्रह्मचार्य हाँ, हर्ष से परे गम है हाँ। उस गम से परे अच है एकदम का एकार है उसको लुट का आगम हुआ है वो पूर्व नकार को होने से वहां लुट का आगम हो गया नेदम बना हुआ है न इदम नेदम ऐसा नहीं है एदम था वो आ इदम एदम हे ब्रह्मचारी हाँ, ब्रह्मचार्य हे ब्रह्मचार्य एदम इदम आ उपासना है वयम ऐसा होगा हम उसी की उपासना करते उसी देव की उपासना करते हैं कहा ऐसा कहने के बाद फिर बोला अस्मय भिक्षाम दत्ता इसको भिक्षा दे दो अपने सेवकों से कहा इस दुर्चारी घोष का दे दो बोला ये कहा भाष्य में कहते तदुह ब्रह्मचारी का वचनम तद शब्द का अर्थ ब्रह्मचारी का वचन पूर्व मंत्र में कहा हुआ था तद माने वचनम उस ब्रह्मचारी का वचन हो सौन का कापेय प्रतिमन्वान उस बच्चन को सौन कापेय वो मनन करता हुआ विचार किया उसने ये ब्रह्मचार्य क्या कहा मनमाना मनसा आलोचन मन से विचार करता हुआ ब्रह्मचार्य आय आ जगामा ब्रह्मचारी के पास में प्रति ए आया प्रत्यय आया ब्रह्मचारी के पास आ गया सौन तो का आ गया गत्वा च वहां आकर क्या कहा आह कहा कहता है वो आकर के उसके पास जा करके बोलता है यम तम अबोचो न पश्चिम पश्चंती मर्त्यायती जो तुमने कहा था मरते लोग उसको नहीं जानते हैं ऐसा कहा था महात्मा जो चार बड़े बड़े महात्मा को जिसने खाया है तो एक आते या सामान्य जन उसको नहीं जानते जो बोला था तुमने यही है यम तुम अबोचा जिसके बारे में तुमने कहा न पश्चिम मरते आई थी मरते लोग नहीं देखते हैं नहीं जानते जो कहा था वह इति तम वयम पश्याम हम उसको जानते हैं ये काते ने कहा हम उसको जानते हैं कथम ब्रह्मचारी पूछे कैसे जानते हो तो कहा आत्मा सर्वस्व थावर जन्मस्य संपूर्ण थावर जंगम जितने भी संसार में वस्तु हैं दो ही प्रकार के हैं चलने वाले और अचल चर अचल दो सबके आत्मा है स्वरूप है वो उसी में सारा संसार पूछा हुआ है वो स्वरूप है वो आत्मा सर्वस्व थावर जंगम से कहा संपूर्ण थावर जंगम का आत्मा है वो स्वरूप है किंच और भी बात है देवानाम अग्नि नाम हाँ, आत्मनि समृद्धि ग्रसित पुनर्जनिता उत्पादयिता वायु रूपेण अधिदैवतम अग्नि नाम किंच और भी बात है देवानाम जनिता है ना देवानाम जनिता उसका अर्थ है देवानाम मान अग्नि आदि नाम आत्मनि समृद्ध ग्रसित पुनर्जनिता अपने में समेट करके दोबारा पैदा करने ऐसा होता है प्रलय काल में अपने में समेटता है फिर सृष्टि काल में पैदा करता है वही देवता देवान अग्नि नाम देवता कौन अग्नि आदि देवता अग्नि आदित्य चंद्र जो विशेष देवता बताया था इन देवताओं का अग्नि आदि नाम आत्मनि समृत अपने में समेट करके प्रलय काल में अपने में समृता है वो और ग्रसित्व पुनर्जनिता उत्पादिता वायु रूप जो कहा तो ये तो वायु रूप से किया है काम इति अधिदैवतम अग्नियादि नाम अधिदैवत अग्नियादि होगा अधिदैवत रूप है अधिदैवत रूप से अग्नियादि का ऐसा काम करता है और अध्यात्म से अध्यात्म रूप से काम कर रहा है अध्यात्म से प्राण रूपेगा प्राण रूप से काम करता है सुश्रुति में सबको अपने में समेट करके फिर जागृत में फिर पैदा करता है सुश्रुति में सबको अपने में उपसंहार कर देता है हम्म, बाघादि को बाघादि इंद्रियों को और जागृत अवसान फिर पैदा कर उत्पत्ति करता है कहा अध्यात्म च प्राण रूपेणा अध्यात्म में देखते हैं तो प्राण रूप से बाघ आदि नाम प्रजा नाम जनता बाघ आदि जो प्रजा है इनको पैदा करता है मनुष्य सुप्त में उपसंहार करेगा अपने में और जागृत काल में पैदा करेगा ऐसा है अथवा अथवा दूसरी व्याख्या करना था दूसरी प्रकार से इसकी व्याख्या अथवा आत्मा देवानाम अग्निभागादि नाम अथवा यहां आत्मा देवानाम ऐसा करना अपनी बात पहले आत्मा सब संपूर्ण भूतों का आत्मा लिया था अब की बात देवानाम आत्मा देवताओं का आत्मा है वो ऐसा अर्थ आत्मा देवानाम अग्नि बाघ आदि नाम माने अद्वैवत में अग्नि आदि है अध्यात्म में बाघ आदि है इसका आत्मा स्वरूप है और जनिता प्रजानाम थावर माना और जनिता का उदय अन्वय कर देना प्रजा नाम थावर माना ऐसा आत्मा देवानाम जनिता प्रजा स्थावर ब्रह्मान कहा अगर हिरण्य दष्ट्र माने अमृत दष्ट्र अमर है जिसका दाग दाग माने अभग्न दष्ट्र है जिसका दाग टूटता नहीं है ऐसा है बबस माने भक्षणशीला बहुत खाने वाला है भक्षणशीला है सारे प्राणी खा रहा खा रहा खा अनसूरी का अर्थ करते हैं आगे माने उसकी महिमा ऐसी है सबकी आत्मा है देवताओं की आत्मा है थावर जंगम आदि की आत्मा है हाँ, और सबको खा करके पैदा करने की शक्ति है उसमें और दूसरी बात उसके दांत बहुत मजबूत हैं और भक्षण स्वभाव है उसका ऐसा है और अनुसूरी बेढ़ा भी है वो बुद्धिमान है वो देवता की महिमा गाया जा रहा है जिस देवता के बारे में अनसूरी माने सूरी माने मेधावी मेधावी बुद्धिमान को सूरी कहते हैं न सूरी असूरी बुद्धिहीन जो होगा उसको असूरी बोला जाएगा हाँ। और तब हो अनसूरी बुद्धिहीन असूरी का प्रतिषेध करेंगे तो अनसूरी हो जाता है दो बार नहीं करेंगे तो पहले वाले अर्थ आ जाता है अवश्य सूरी अवश्य मेधावी है माने सूरी रेप इत्यर्थ वो सूरी ही है यह अर्थ और महानतम महामहिमा उसकी महानतम कैसे है प्रमाणम अति प्रमाणम अतित्य प्रमाणम अतित्य वर्तते इति अति प्रमाणम कोई प्रमाण उसको विषय नहीं कर सकता प्रत्यक्षादि प्रमाण उसको विषय नहीं कर सकता वो प्रमाण से बहिर्भूत है वो कोई प्रत्यक्षादि प्रमाण उसको विषय नहीं बना सकता ऐसा है वो अति प्रमाण कहा महान दमदार में क्या क्या है वहां और अप्रमेयम ज्ञान का विषय भी नहीं हो सकता हो प्रमेय नहीं बनता न प्रमेय अप्रमेय ऐसा है ये अति प्रमाण का अर्थ होता है प्रमाणम अतिक्रम्य वर्तते थी अति प्रमाण प्रमाण को अतिक्रमण करके बैठा है प्रमाण के घेरे में नहीं है वो किसी प्रमाण का विषय नहीं बनता ऐसा है वो तत्व और अप्रमेय भी है ज्ञान का विषय भी नहीं बनता जो ज्ञान का विषय बनता है प्रमेय होता है यह अप्रमेय है ये कहा अस्य प्रजापति महिमा ऐसा प्रजापति की महिमा है वो इस महिमा को विभूति आहुर ब्रह्मविद ब्रह्मवेत्ता लोग इसको विभूति माने ऐश्वर्य बोलते हैं लोग ब्रह्मवेत्ता लोग इसकी विभूति कहते हैं ऐसी विभूति है इसको बोलते हैं सारे एक मिल करके हो गया माने आत्मा देवान जनता प्रजानाम हिंदी दृष्ट दृष्टा बबस अनस्पुरी महानतम अश्य महिमा ये सारा महिमा आहू ब्रह्मवेत्ता लोग ऐसी महिमा बताते हैं जिसके बारे में ऐसे व्रत है यद शब्द का अर्थ यद शब्द था यद अनन्नमत्ति उस यद का अर्थ यस्मात यस्मात स्वयं अन्य अनत्य हो यद शब्द का अर्थ यस्मात है जिस कारण से देखो स्वयं अन्य के द्वारा खाया जाने वाला नहीं है हाँ। कर्म निशान चाहे अनवद्यमान है अन्य के द्वारा खाए अनद्यमान है खाया नहीं जाता ऐसा है अद्यमान नहीं है वो खाया नहीं जाता अन्य के द्वारा माने अभक्ष्यमाण उसका अर्थ कर दिया यस्मात स्वयं अन्य अनद्यमान माने अभक्ष्यमाण खाया नहीं जाता यद अनन्नम जो अनन्न है अन्न नहीं है जो खाया खाने वाली योग्य वस्तु नहीं है उनको खा जाता है यद अनन्नम अग्निभाग आदि देवता रूपम अति अक्षय का अधिदैवत में अग्नि आदि देवता है अध्यात्म में बाघ आदि देवता है चार चार देवता बड़े बड़े देवता का नाम लिया वो सबको खा जाता है जो अन्न नहीं है उनको खाता है वो ऐसी शक्ति उसमें है बई इति निरर्थक बई शब्द है वो निरर्थक है अर्थ नहीं बई कहा अति इति बई इत्यादि में बई शब्द अनर्थक है कहा भयम हे ब्रह्मचारी हे ब्रह्मचारी हम उसी की उपासना करते बोलना चाह रहे हैं काप्य सौन बोलते हैं ब्रह्मचारी हम उसी की उपासना करते हैं हम जानते हैं उसको कहा वयम यदि वयम हे ब्रह्मचारी आ इदम एदम ऐसा होगा वहां आगे ब्रह्मचारी एदम नेदम ऐसा वहां नुट हो रखा है न कि न इदम उपासना ही नहीं होगा हम इसकी उपासना नहीं करते नहीं हम इसी की उपासना करते बोला जा रहा है तो पूर्व में नकार है नमो हस्वादी को नित्यम लगा है वहां मंत्र ऐसा बोले जा रहे हैं तो आ इदम मिलकर के एदम होगा ब्रह्मचारिण एदम ब्रह्मचारिण एदम ऐसा बना हुआ है आ इदम एवं यथोक्त लक्षणम इस प्रकार ब्रह्म वयम आ उपासना आम को ला करके क्रिया के साथ जोड़ देना आ उपासना है इस प्रकार के ब्रह्म को हम उपासना करते हैं ऐसा सौनक काते ने कहा वयम इति व्यवहित संबंध वयम पहले है और उपासना है बाद में है तो वहां अन्वय करना व्यवधान पूर्वक अन्वय कर देना ये बोला अन्य अन्य लोग कुछ और बोलते हैं हाँ, नेदम उपासमय ऐसे अर्थ करते हैं कुछ लोग भाई हम न इदम उपासमय हम इस ब्रह्म की उपासना नहीं करते हम पर ब्रह्म की उपासना करते हैं ऐसा बोलते हैं कुछ लोग अन्य कुछ अन्य लोग बोलते हैं न भयम इदम उपासना हम इसकी उपासना नहीं करते ये जो सगुण ब्रह्म की उपासना हम नहीं करते हैं चिंतन ही फिर क्या है तो कहा परमेव ब्रह्म है इति वर्णयंती निरम उपासना ऐसे अर्थ करते हैं कुछ लोग हम इसकी उपासना नहीं करते हम तो परम ब्रह्म की उपासना करते हैं ऐसा कुछ लोगों का कहना है ऐसा वर्णन करते हैं ये कहा दत्त अस्मय भिक्षाम यदि अवोचन वृत्यान कहा ये अपने सेवकों से कहा इसको भिक्षा दे दो ऐसा सौन कार्य ने कहा ये बताया ठीक है कहते हैं दर्शनम एवं प्रश्न द्वारा विषय थे हम उसको जानते हैं देखते हैं करके काव्य ने कहा सौम्य हम्म। काव्य ने जब बताया तो उसी को ब्रह्मचारी के माध्यम से प्रश्न करवा करके उसी को विस्तार करते कहा कथम ब्रह्मचारी की तरफ से प्रश्न कैसे जानते हो प्रश्न कर दिया भाष्य में तो उत्तर दिया आत्मा सर्वस्व थावर जगम से इत्यादि उत्तर दिया वो आत्मा है सबका स्वरूप है और देवादि जो अग्नि आदि हैं और बाघ आदि हैं सबके वो जनिता भी है देवान जनिता भी है इत्यादि वाक्य कहा टीका में कहते हैं <clears throat> कि अधिदैवतम अग्नियादि नाम वायु रूपेण जनिता माने अधिदैवत जो अग्नियादि है उनको वायु रूप से जनित है उत्पत्ति करता है संबंध तस्या प्राथमिक कृत्वा थी उसको जन्म को प्राथमिक बना करके देते हैं कैसे करते हैं टिप्पणी कार्य कहते हैं जने प्राथमिकम जन्य अपेक्षया तो प्राथमिक होने के लिए प्रथम होना पड़ेगा प्रथम होने के लिए पहले कोई होगा तब ये पहला पहला होगा ये कहना चाहते हैं जने प्राथमिकम जन्य अपेक्षा प्रथम अभवम जन्य मान उत्पत्ति की अपेक्षा से पहले होने वाला जो संग्रहण है संग्रहण के बाद उत्पत्ति होनी है एक जने विसर्ग चाहिए वहां जने प्राथमिकम जन्य अपेक्षा उत्पत्ति में जो प्राथमिकता क्या है माने जन्य की अपेक्षा से होना है पहले जन्य की अपेक्षा से है प्रथम अभव जन्य की अपेक्षा से क्या होता है पहले संहार होगा तो जन्म होगा संगरण कृत्वा आक्षिप्त दर्शन आक्षेप करके बोलते हैं आत्मनि क्या ये बोलते हैं कि आत्मनि समृत्य ग्रसित्वा पुनर्जनिता ये कहा उत्पत्ति से पहले प्रलय है ये दिखाया प्रलय के बाद पहले ऐसा करके उत्पन्न करता है यही अच्छा, यही कहा माने जन्मे प्राथमिकम जन्य अपेक्षा प्रथम भवन जन्य में प्राथमिकता क्या है तो कहा जन्य की अपेक्षा पहले होने वाला पैदा होने वाले से पहले क्या होगा संगार होगा संगरण कृपा आक्षिप्य दर्शन आक्षेप करके बोला यहां ये कहा कि आत्मनि समृद्ध ग्रसित्वा पुनर्जनिता ऐसा कहा भाष्य जनिता का अर्थ माने पहले अपने में समझ करके पैदा करने वाला इत्यादि का अगर अग्नियादीन प्रलय काले देव स्वात्मनि वायु रूपेण ग्रसित हुआ कहते हैं अग्नि आदि जो बड़े बड़े देवता कहा था अग्नि आदित्य चंद्र जल जो कहा था इन सबका प्रलय काल में देव जो है वो देव तो आत्मदेव स्वात्मनि वायु रूपेण ग्रसित वायु रूप से अपने में ग्रसित करके उन देवताओं को खा करके पुनर्उत्पत्ति अवस्थायाम उत्पाद है ये योजना फिर उत्पत्ति अवस्था में उनको उत्पादन करने वाला है वो ये योजना करना कहा इसी प्रकार अध्यात्म में दिखाते हैं अध्यात्म बाघादि में अभी अध्यात्म जो बाघादि इंद्रिया है बाघ चक्षु श्रोत्र मन इनको खा जाता है कब सुश्रुति में खाता है वो अध्यात्म बाधादि अपनी स्वाप अवस्था में स्वाप मानी सुसुप्ति सुसुप्ति अवस्था में नहीं प्राण रूपे समृद्ध अपने में मानी प्राण रूप अपने में मानी प्राण रूप में उपसंहार करना उसने सुसुप्ति में करके पुनः प्रबोध अवस्थायाम तेषाम उत्पादित फिर जागृत अवस्था में उन बाघादि को उत्पन्न करना काम करती है बाघादि जागृत में सुसुप्ति काम नहीं करती प्राण विलीन हो गया ये समझना है देव प्राण रूपेण इत्यादि माने अध्यात्म में प्राण रूप से ये काम करता है अधिदैव में वायु रूप से काम करता है देवता ये होता है अध्यात्म इत्यादि कहा था अध्यात्म च प्राण रूपेण बाघादि का प्रजानम जनिता देवानाम अग्नियादीनाम प्रजानाम भागादीनाम च जनिता यदि उत्तम पूर्व में एक कहा देव शब्द से अग्नियादि को लिया और प्रजा शब्द से बाघादि इंद्रियों को लिया पूर्व व्याख्या ऐसी हो गई हम्म। देवानाम शब्द का अर्थ अग्नियादि और प्रजानाम शब्द का अर्थ बाघ आदि मंत्र में दे देवानाम जनता नाम ऐसा आया है तो ऐसा कहा अब संप्रति व्याख्यांतर महा अब अन्य व्याख्या करते हैं अथवा कहा अथवा आत्मा देवानाम अग्नि बाघादीनाम जनिता प्रजानाम था नाम अग्नि होगा आत्मा देवान माने अग्नि आदि भी देवता आदि भी देवता हम्म। ऐसा लेना सबको लेना ये आत्मा है इन सबके आत्मा है स्वरूप है और जनिता प्रजा नाम था प्रजनमान उत्पन्न करने वाला किसका था थावर वर्जमन संसार को उत्पन्न करने वाले वही यही आता है आपके बारे में व्याख्या की आगे अभग्न राष्ट्र शब्द था उसका अर्थ है सर्वसंहतुरपी न काचना ग्लानी भगवत इत्यर्थ माने सारा संहार करने वाला होने पर भी कोई ग्लानी नहीं होती है उसको कष्ट नहीं यह अभग्न भ्रष्ट करते यही है सर्व संभवपुर भी सबका संहार करता होता हुआ भी न काचन ग्लानी किसी प्रकार की ग्लानी नहीं उसको ये, अभग्न अवग्न दृष्ट करते यही है कहा प्रजापतिर महिमो अति प्रमाण अति प्रमाणत्व प्रगति वो प्रजापति का जो महिमा है प्रमाण को अतिक्रमण करके है वो प्रमाणम अतिक्रम्य वर्तते थी अति प्रमाणम अति प्रमाणत्व जो है वो दिखाते हैं यस्माद इत्यादि भाषण में कहा था यशमार स्वयं अन्य अनवद्यमान अनद्यमान उसकी महिमा यह है स्वयं दूसरे से खाया नहीं जाता हो उसका मारक कोई नहीं है और इतने बड़े बड़े देवताओं को खा जाता है ये उसकी महिमा है ऐश्वर्य है यस्मात स्वयं अन्य अनद्यमान अभक्षमाण यद अनन्नम बाघादि देवता रूपम अति भक्ष जो अन्न नहीं है बाघादि देवता अग्नि आदि देवता उसको खा जाता है दूसरे के द्वारा खाया नहीं जाता और इतने जो अन्न भी नहीं जो उसको भी खा जाता है ऐसी सामर्थ्य उसमें है ये कहा था <clears throat> ठीक है इति शब्दात परस्ताद एक शब्द से संबंध जो इति शब्द भक्ष इति भाष्य में जो ऐसा है अभक्ष मानो यद वो जो यद शब्द है इति शब्द के आगे जाकर के अन्वय होगा कहता है यद अनन्नम अग्नि बागादी नाम रूपम अति भक्ष इति यत वहां यत वहां जाके अनुभव इति शब्द के बाद में यत शब्द जो पहले आया उसका इति शब्द के बाद जो वस्तु ऐसा है यत माने जो ऐसा एक है यदि शब्दात परस्तात यद शब्द संबंध है जो यद शब्द पहले आया है भाष्य में यद अनन्नम अग्निभागादि रूपम अति भक्ष इत्यादि इति के बाद में यद कुछ होता है और अस्मात तो वहीं जाकर अन्वय होना एक का अर्थ अन्वय कर देना वहां इति के आगे ऐसा बोला इति शब्दात परस्ताद इति शब्द के आगे यद शब्द से संबंध यद शब्द के संबंध वहां अभक्षमाणो अनन्नम अग्निवागारी देवता रूपम अति माने भक्षयती इति यत यत माने ऐसा लगा एक तदर्थ यस्माद यद का शब्द यस्माद बोला हुआ है पहले से तदर्थ मानी यह शब्द का अर्थ मंत्र में जो यद शब्द था उसको ये, ये कहा था अच्छा वो मंत्र के हिसाब से यद का अर्थ यस्मात होगा अति इति के आगे उसका अन्वय होगा तो क्या होगा अति यस्मात वयम ब्रह्मचारी आयुधम उपासना उपासना हम इसी कारण से ब्रह्मचारी हम इसकी उपासना करते हैं मंत्र में जिस ढंग से उस ढंग से यद का संबंध वहां यस्मात बाद में होना है अति इति वो इति के आगे यस्मात हम्म। यस्मात भयम ब्रह्मचारी आयुधम उपासना इसलिए हम इसकी उपासना करते हैं ऐसा अन्वय करना ये बताया इति शब्द पड़ता है कैसे तदर्थ से यद शब्द का अर्थ क्या होगा यस्मात इति उक्त ये कहा तस्मात प्रजापतिर महिमान अति प्रमाणम आहु इति पूर्व समझ इसलिए प्रजापति की महिमा प्रमाण को अतिक्रमण करके बैठा हुआ है प्रमाण वह काम नहीं कर सकता ऐसा पूर्व के साथ संबंध कर देना कहा बई बयम इत्यादि भागम पदछेद पूर्वकम आदाय व्याचिका बई बयम ऐसा मंत्र है मंत्र में बई बयम है उसका बई बयम इत्यादि भागम पदछेद पूर्वकम एक एक पद करके आदाय व्याचिका बयम इत्यादि बयम इत्यादि का बयम करके भाष्य में कहा था बयम हे ब्रह्मचारिण आ इदम एवं यथोक्त ब्रह्म वयम उपासना है हम एक क्रियापदे में वयम वित्त संबंधम उत्तम उपवाद थी ये दो बार वयम शब्द भाष्य में प्रयोग कर दिया तो एक क्रियापद के साथ में जोड़ने के लिए दोबारा किया एक तो मंत्र में जैसा था वैसे करके लाए फिर बाद में क्रियापद के साथ उपासमय वयम ही लगाने के लिए दोबारा हुआ ये टीकाकार हो रहा है क्रियापदे न वयम से संबंधम उत्तम उपवाद क्रियापद के साथ वयम का संबंध करना है उपासना ही वयम उपासना ही करना है यही दिखाते हैं वयम इत्यादि का वयम यदि व्यवहित है संबंध हम उपासमय का क्रिया के साथ में वयम का व्यवधान ये संबंध होगा ये बताया ब्रह्मचारी इदम वयम आसमंतात उपासमय ब्रह्म यदि उपवास हे ब्रह्मचारी जी इदम वयम उपासना है ब्रह्म इदम ब्रह्म वयम दोष हम हर प्रकार से इसी की उपासना करते हैं यदि उक्वा प्रकारांतर पदछेद व्याख्यान रहा प्रकारांतर कुछ लोग बोलते हैं हम इसकी उपासना नहीं करते ये प्रकारांतर है वह नेदम का नेदम ही अर्थ करेंगे वह नुट नुट हुआ नहीं समझते उन वो लोग कुछ व्याख्याकार ऐसा मानते हैं अन्य तू कहा अन्य तू न वयम इदम उपासना ऐसा मानते हैं हम इसकी उपासना नहीं करते हैं नेदम जैसे दिखाई पड़ रहा है वह मनमुख नहीं है नकारी है ऐसे मानते कुछ लोग कहा अच्छा, सौनक से अभिप्रतारिणश्च ज्ञानातिशय दर्शयित्वा सौनक और अभिप्रतारी दोनों ने क्या किया अतिशय ज्ञान दिखा करके सौनक सौनक से अभिप्रतारिणश्च सौनक और अभिप्रतारी जो दोनों का ज्ञान से दर्शित अतिशय ज्ञान दिखाकर दिखवा करके यतिश्च ब्रह्मचारी च इत्यादि स्मृति अनुसृत्या तो स्मृति में आया है इनको भिक्षा देनी चाहिए करके यतिश्च ब्रह्मचारी च इत्यादि स्मृति अनुसृत्या हाँ ज्ञान हमारे में ज्यादा है ये ये लोग मानते हैं फिर भी ब्रह्मचारी आया तो भिक्षा देना चाहिए ऐसा समझता है वो सौनक ये कहना चाहते हैं तो यतिश्च टिप्पणी में पूरा किया इत्यादि ना इत्यादि इत्यादि ना यतिश्च ब्रह्मचारी च पक्वान्न स्वामी न उखू ये दोनों पकवान के स्वामी भागीदार है मालिक है स्वामी है ये तिश्च ब्रह्मचारी से ये तो टीका में दिया आगे तीन पाद यहां देना चाहते हैं यतिश्च ब्रह्मचारी च पकवान स्वामी भव तयोर अनम अदत्वा च भुगतवा चांद्रायणम चरेत पाद तीन पाद टिप्पणी का पूरा किया एक पाद तो टीका में है यतिश्च ब्रह्मचारी च पकवान स्वामी भव दोनों के दोनों पकवान न भोजन स्वामी है ये पका हुआ अन्न देना चाहिए उनको तयोर अन्न अन्नम अदत्वाच वो दोनों को अन्न न दे करके भुक्त तो खाता हुए थी खाया खा करके चांद्रायण चांद्रायण व्रत करे वो करना पड़ेगा यदि सन्यासी घर में आया ब्रह्मचारी आया भिक्षा मांगा भिक्षा नहीं दी और अपना खाया तो चांद्रायण व्रत करना पड़ेगा ऐसा कहीं स्मृति में है ये तीन पाक टीकाकार टिप्पणीकार ने जोड़ दिया होगा हाँ, यतीश्च ब्रह्मचारी से इतने एक, एक बात तो टीकाकार ने दिया तीन बार टिप्पणीकार ने पूरा किया ये मान करके दत्त अस्मय भिक्षा में ऐसा बोल दिया ये, ये स्मृति समझते थे सौनक काटे इसलिए उन्होंने कहा दत्त अस्मय भिक्षा दे दो इनको भिक्षा बोल आगे मंत्र है तस्मा ददू देवायते पंचाण्ये पंचान्ये दश संत तत्कृतम तस्मात् सर्वासु दिक्षु अन्नमेव दशकृतम् सैषा विराडन्नादि तयादं तयेदं सर्वं दृष्टम् सर्वं पश्यैदं दृष्टं नादो भवति य एवं वेद एवं वेद तस्माऊह ददू देवायते पञ्चान्ये पञ्चान्ये दशः सन्त तत्कृतम् तस्मात् सर्वासु दिक्षु अन्नमेव दशकृतम् सैषा विराडन्नादि तयनम सर्व दृष्ट सर्वम अश्य दृष्टम अन्नारो वेद यम तस्मय ऊह ऊह का कोई अर्थ नहीं है तस्मय ददु भिक्षा ददु जब सौन काव्य ने कहा दब तस्मय भिक्षा बोला तो सेवकों ने भिक्षा दे दी थी तस्मय ब्रह्मचारी ने दधु भिक्षा दधु शिक्षा दे दी उन्होंने अब कहते हैं तेवा एते पंच अन्य पंच अन्य दो पंच हैं बाघादि पांच अन्य हैं और अग्नि पांच अन्य हैं वहां भी पांच है यहां भी पांच है वहां खाए जाने वाले चार हैं और एक खाने वाला है पांच हो जाते हैं यहां भी बाघादि में भी बाघ चक्षु स्रोत्र मन खाए जाने वाले हैं और प्राण खाने वाला पांच है ग्रसिता और ग्रास को करके पांच पांच हम दोनों ने कहा तेवा एते पंच अन्य पांच अन्य है अग्नि देवता आदि जो खा भक्ष भक्ष मिलकर पांच हैं और बाघ आदि भी पांच हैं पांच पांच है तो मिलकर के हो गए दस हो गए ये दस है दस होने से क्या होता है कीर्तनाम के पाशा के समान हो गए दस संख्या वहां है कीर्तनाम के पाशा के समान हो गए ये तो कीर्तनाम के पाशा के समान हो से द्यूत वो पाशा द्यूत में काम आता है जुआ में काम आता है ये दूध संज्ञक हो गए ये वहां जुआ में भी ऐसा कोई खाए जाते हैं कोई खाने वाला होता है जुआ ऐसे होता है तो यहाँ दस हो गए ये भी यहाँ भी गिन करके यहाँ अध्यात्म पांच अजदय को पांच है पांच पांच है यहाँ भी खाने वाले और खाए जाने वाले हैं दूध क्रीड़ा में भी खाने वाले और खाए जाने वाले होते हैं एक पासा खाता है बाकी खाए जाते हैं ऐसे होते हैं इसलिए ये दस होते हुए तत्कृतम कृत माने जो तो कृताय नाम का पासा है ना सबको खाने वाला था दस संख्या में होता है वो तो कृत नाम का हो गया माने ये भी कृत से शब्द होगा यहाँ जुआ में परिणत हो जुआ के समान है ये खाने वाले और खाए जाने वाले मिलकर के ऐसा हो गया कहा माने कृत शब्द से उपलक्षित द्यूत है ये एक जुआ है ये वह खाया जाता है खाने वाला होता है या ऐसी स्थिति हो गई दस मिलकर का तस्मात सर्वासु दिक्षु अन्नम एवं दशक कृतम कहा इसलिए सारे दिशाओं में सभी दिशाओं में कहीं होगा सब अन्न ही होंगे दस संख्या के द्वारा अन्न ही माने जाते हैं <clears throat> अन्न ही होंगे माने संख्या सामान्य होने से या अन्न माने जाएंगे अन्न भी माने जाएंगे अन्ना भी माने जाएंगे जो खाने वाले भी दस संख्या के भीतर ही है खाए जाने वाले भी दस संख्या के भीतर है इसलिए तो अच्छा संख्या समान होने से एक दस कृत में माने जाते हैं माने अन्न में माने जाते हैं संत है ऐसा सहीसा विराट अन्न आदि और यहां विराट भी माना जाएगा इनको क्यों विराट छंद दस अक्षर वाला होता है एक विराट छंद है वेद में पाया जाता है विराट छंद दस अक्षर वाला होता है तो इसलिए वो दस संख्या होने के अन्न में माना जाए विराट संख्या को अन्न विराट को अन्न माना हुआ है अन्न भी माना जाएगा ऐसा होगा और <clears throat> सैसा विराट अन्नादि अन्नादि भी वही है क्यों अतृप्त तो भी उसी में दस संख्या के भीतर ही है खाने वाला भी वही है देखा तया एकदम सर्वम दृष्टम उस विराट के द्वारा सारा संसार उपलब्ध है उसको कोई छिपा हुआ नहीं है दृष्टम माने उपलब्धम भगवती ऐसा है अब फल बताते हैं सर्वम एकदम दृष्टम भवती इस उपासक को भी सारे के सारे उपलब्ध होता है अन्नादो भवती और अन्नवान अन्न खाने वाला होगा खूब पाचन शक्ति वाला होगा या एवं वेद एवं वेद कहा कहते हैं उपासना समाप्ति के लिए ये कहा कहते हैं अभी पंचम अध्याय बाकी है आगे भी बाकी है चतुर्थ पर तो बाकी है उपासना समाप्ति कहते आगे उपासना प्रकरण नहीं विशेष कर ये होगा ब्रह्म के स्वरूप का कथन करने वाले प्रकरण आएंगे सगुण ब्रह्म के स्वरूप बताने वाले आएंगे या भाष्यकार अंतिम बोलेंगे उपासना समाप्त करते विरुक्ति ऐसा है हाँ आगे आगे जो आएंगे ब्रह्म के प्रतिपादक ज्यादा आएंगे यहाँ उपासना समाप्ति हो रही है तो ये उपासना समाप्त होने वाली है इसलिए दुरुक्ति का आगे भाषण तदुह ब्रह्मचारी में वचनम वो तत् माने वचनम उस ब्रह्मचारी का वचन इत्यादि ये तो हो गया था आगे तस्वय ऊहा ददू ते ही भिक्षा कहा तो उस ब्रह्मचारी के लिए उन्होंने भिक्षा दे दी सेवकों ने भिक्षा दी कहा अज्ञात ते वही ये ग्रस्तंते अग्नियादय यश तेसाम ग्रस्ता ये बाघ आदि में अधिदैवत में पांच हैं खाए जाने वाले चार एक खाने वाला इसे अध्यात्म में भी पांच है ये कहते हैं ते वही ये ते वही ये जो कौन ग्रस्तंते अग्नि आदि खाए जाते हैं और यश तेषा ग्रसिता वायु जो वायु है खाने वाला पंच अन्य बाघ आदि बाघ आदि पांच से अन्य है अधिदैवत वाले तथा अन्य तेव्य पंच अध्यात्म बाघ आ रहे प्राण से इसी प्रकार उन अधिदैवत से अतिरिक्त पांच अन्य है पंच अन्य पंच अन्य पांच अन्य है कौन बाघ आदि खाए जाने वाले दृश्यमान है और प्राण खाने वाला है ते सर्वे दस भवंती संख्या संख्या से मिलकर के दस होते हैं खाए जाने वाला खाने वाला मिलाकर के दस संख्या में दस शब्द तत्कृतम भवती दस होने के कारण से कृत नाम जुआ यानी कृत संख्या मान दस संख्या का है उसके द्वारा ये कृत नामक पाशा है उसके द्वारा कृत नामक पाशा में सारे मिलकर दस संख्या होते हैं तो उसको लेकर के जुआ यहां है कृतम ते भवती द्युत हो जाता है क्योंकि चतुरंग एक आया जो कृत नाम जिसको कृत बोला जाता है वहां पर चार अंक वाला एक पासा होता है चार पासे होते हैं वैसे तीन अंक वाला एक पासा होगा दो अंक वाला एक पासा होगा एक अंक वाला एक पासा होगा युवा में ऐसे होते हैं तो चतुरंक चतुरंक एक आया वहां पर चार अंक वाला एक आया एक पासा होगा युवा में एवं इसी प्रकार यहां भी ये पांच में से एक कम करेंगे तो चार अंक वाले हो जाएंगे यहां भी ये पांच है ना अग्नि आदि पांच वो उनमें से एक कम करेंगे यहां भी चार अंक वाला हो जाएगा उसके समान हो गया एक कम करने से चतवार एवं चतवार यहां भी चार है वहां चार है तो यहां भी चार है एक कम कर देना यहां पांच में से एक कम करना चार हो जाएंगे अच्छा त्रियांक अय हाँ, तीन अंक वाला एक अय होता है अय माने जो पाशा है तीन अंक वाला होगा वहां जुआ में एवं त्रयो अपर यहां भी तीन हो जाएंगे दो कम कर देना पांच में से तीन तीन रह जाएंगे यहां भी पांच में से दो कम करेंगे तो तीन हो जाएगा यहां ऐसा और दो अंक आया एवं दो अंग कहा और दो अंक आया एक होता है वहां दो अंक वाला पासा एक होगा तो यहां भी दो माने तीन निकाल देना दो बच जाएंगे यहां भी दो हो जाएगा ये पांच में से एक कहा और एक अंक आया वहां एक अंक वाला भी एक आया होगा पासा होगा वहां जुआ इसी प्रकार यहां भी एवं एक अन्य जब चार निकाल देंगे इनमें से तो एक बचेगा यहाँ पांच थे पांच में से एक निकाल दिया चार बचे चार आय के समान हो गया दो निकाल दिया तीन आय के समान हो गया तीन निकाल दिए दो आय के समान हो गया और एक चार निकाल देंगे तो एक आय के समान हो जाएगा ये कहा इतम दस संत तत्कृतम भगवती वहां संख्या में दस हो जाते हैं चार और तीन सात और दो नौ और एक दस चार संख्या वाला तीन संख्या वाला मिलकर के हो जाते हैं सात और दो संख्या वाला मिलकर नौ और एक संख्या दस वहां दस संख्या है तो यहां भी दस हो गई ये कहते हैं संख्या सामान्य है ये कहा दस संत दस होते हुए तत्कृतम कृत कृतनाम भी आय के समान हो गया पास के समान हो गया यथा एवं तस्मात सर्वासु दीक्षु दशस्वी दसों दिशाओं में अग्नाद्या भागाद्याश्च दस संख्या सामान्य अन्न एवं अन्नादि और बाघादि को लेकर के दस संख्या समान होने से अन्नादि बाघादि अन्न ही हो जाएंगे दशाक्षरा विराट क्यों तो कहते दस अक्षर वाला विराट छंद है एक विराट छंद विशेष है दशाक्षरों वैदिक छंदो विशेषो विराट नाम विराट नाम का छंद है विराट माने प्रजापति नहीं यहां ये विराट यह है छंद विशेष है विराट दशाक्षरा विराट विराट अन्नमी श्रुति और विराट को अन्न माना है श्रुति ऐसा बोलती है कहा अतो अन्नम एवं संख्या वो जो बाघ आदि जो है दस संख्या से युक्त होने के कारण वो अन्न कोटि में चले गए तथा एवं कृतम इसलिए क्या हो जाता वो ये दस के दस को कृत नाम दिया द्यूत माना गया द्यूत में दस संख्या होती है युवा में तो इसको भी दशक कृतम माने ये द्यूत माना गया है कृत्य अंतर्भावा चतुर अयत्र अवचार तो द्यूत में अंतर्भाव होने का है द्यूत में दस संख्या है इनमें भी दस संख्या है उसमें अंतर्भूत होने के कारण चार अय के रूप से कहा हमने इसको चार पासे के रूप में कहा और चार पासे होते हैं एक चार अंक वाला तीन अंक वाला दो अंक वाला एक अंक वाला तो चार पासा अय चतुर अय चतुर अलग अय अलग है चार पासे के समान हमने कहा इनको के वास्तविकार कहा टीका से देखें आख्यायिका द्वारा प्रकृतायाम संवर्ग विद्यायाम आत्मा देवानाम इत्यादि गुणजात उपदेश कहानी के रूप से अभिप्रतारी सौनक हाँ, और काक्षे का, का, का, का, का, का, का, काक्षसेनी अभिप्रतारित एक कहानी बताई ब्रह्मचारी गया भिक्षा मांगा उन्होंने ऐसा ऐसा कहा कहानी के रूप से आख्यायिका द्वारा प्रकृत आयाम सम्रक विद्यायाम जो प्रकृत सम्रक विद्या की विद्या आत्मा देवानाम इत्यादि शब्द आया है ये देवता का आत्मा है इत्यादि कहानी के रूप में कहा देवता का आत्मा है हाँ, जनिता प्रजाराम इत्यादि आया ये सब आत्मा देवानाम इत्यादि गुणजात उद्देश्य उसके गुण का कथन किया उस देवता के कथन करके गुणांतरम तुम अनंतर वाक्य होता है अन्य गुण के उपदेश करना है इसे आगे के वाक्य अवतरण कहा तेवा एते पंच एते पंच एते वही ये ग्रस्यंते अग्निदय यसे तेषाम दर्शिता वायुआदय इत्यादि कहा था तो ये जो जो है दस मिल करके दस होते हैं अध्यात्म में दस पांच है अधिदेव में पांच है दस होते हैं ये कहा था तद चे ये ग्रस्यंते हाँ। अग्नियादयो यस्त तेषाम दृष्टा वायु इत्यादि कहा था ते एते बाघादि गृहटीका में कहा ते एते बाघादि का सकाशाद अन्य पंच इति संबंध ये बाघादियों की अपेक्षा से ये अग्नि आदि पांच अलग है ये पांच संख्या में है कहा अधिदैवतम अग्नि वायु सहितान पंच हुआ अधिदैवत जो अग्नि आदि है वो माने ग्रसिता को भी लिया है वायु को भी लिया है लेकर के पांच बनाया है अधिदैवतम अग्नियाधीन वायु सहितान पंच उत्तर पांचों कथन करेंगे तेरह प्रकार है उसी प्रकार से वहां जैसे पांच कहा इसी प्रकार अध्यात्म भी पांच बताते हैं प्रकार अध्यात्म में विद्यंत सकाशा अन्य प्राण सहिता भागादय पंचाशंति अग्नि आदि की अपेक्षा यहाँ भी पांच है अध्यात्म भी पांच है उसी प्रकार से लेना है यहाँ भी ग्रसिता और ग्रासक दोनों को लेना है अध्यात्म वित्तेभ्य माने अग्नि अग्नियादि अग्नि आदि से सका भिन्न अन्य प्राण सहित बाघादय प्राण सहित बाघादि के पांच होते हैं ये कहा तथा इत्यादि बताया तथा अन्य तेव्य पंच अध्यात्म बाघादय प्राण कहा अवांतर संख्या विनिवेश विनिवेशम तत्र भी महासंख्या निवेशम दर्शाइए पहले पांच पांच संख्या दिखाई अब महासंख्या दस संख्या दिखाते हैं मिल करके दस हो जाते हैं अवांतर संख्या छोटे छोटे संख्या को अवांतर संख्या पांच पांच संख्या बताई पहले वो पांच अलग वो पांच अलग मिल करके दस हो जाते हैं ये कहा अवांतर संख्या विनिवेश अवांतर संख्या पांच पांच करके बता दी कथन करके तत्र उसी में महासंख्या निवेशन दर्शक महासंख्या का निवेश दिखाते हैं ते सर्वे इत्यादि कहा दवासी में ते सर्वे दस भवन की संख्या मिल करके दस हो जाते हैं बाघ आदि पांच और अग्नि आदि पांच दस संख्या संबंधा तेसाम संख्या कृताय उपलक्षितम द्यूतम कृतम इति है दस संख्या समान होने से इनको द्यूत कहा जाएगा जैसे जुआ में दस संख्या होते हैं चार और तीन एक पासा चार अंकों वाला एक पासा तीन अंकों वाला एक पासा दो अंकों वाला एक पासा एक अंक वाला तो मिलकर चार तीन सात दो नौ और एक दस तो यहां भी दस है वहां भी दस है इसलिए उनको द्यूत माना जाएगा द्यूत में क्या होता है खाना खाद्य और खादक दो होते हैं वहां यहां भी ऐसे बने हुए हैं ये बोलना चाहते हैं दस संख्या संबंधात दस संख्या के समान होने से तेषाम ये जो अग्निवायु आदि में क्या संख्या इति हाँ, या भाष्य बता ना संख्या दस संत तत्कृतम ही आया हुआ संख्या के द्वारा दस होने से कृत कहा जाए दूत कहा जाएगा उसको ये बोलना चाहते हैं जुआ बोला जाएगा इनको संख्या इति संख्या इति उत्तम विशेष है संख्या इति उत्तम भाष्य में संख्या ऐसा कहा है संख्या के द्वारा दस होगा आगे कृताय उपलक्षितम द्यूतम कृताय नाम से उपलक्षित द्यूत है ये संख्या बराबर होने से कृताय कहेंगे तो जुआ में कृताय शब्द का प्रयोग होता है तो द्यूत लेना तो मिलकर द्यूत हो गए कृतम ही उच्च थे द्यूत वही कृत कहा गया तत्र दस संख्या वक्तव्य से वक्तव्य दृष्टिकोण उसमें द्यूत में दस संख्या वक्तव्य है अभी बताएंगे चतवार आया एकांक इत्यादि बताएंगे वहां दस संख्या होते हैं चार आय वाला एक होता है तीन आय वाला एक होता है पासा आय मैंने पासा चार अंक वाला तीन अंक वाला दो अंक वाला एक अंक वाला दस मिलते हो एक अंक यदुक्तम अग्निदय बाघादय दशा संता तत्कृतम भगती थी तद उपादाय का जो अग्नियादि और बाघादि मिलकर के दस होने के कारण कृत जुआ हो जाता है कहा कृत माने कृत शब्द से उपलक्षित द्युत जुआ क्यों कृत में कृताय शब्द से आता है वो जुआ होता है वो उसमें दस संख्या होती है यहाँ भी दस संख्या हो गए इसलिए दूत है ये जुआ है क्यों वहां खाद्य खाद्य भाव होता है जुआ में यहां भी वही है एक कहना चाहते ये कहा चतुर अंक है एक आया जुआ में जो होता है ना वो चार अंक वाला एक पासा होगा और यहां भी एवं चतवार यहां भी वायु को छोड़ देना तो चार बचेगा और प्राण को छोड़ने के लिए चार बचेंगे एक एक छोड़ने पर चार चार रहेगा बराबर हो गया संख्या हाँ यहां भी चार आए हो जाएगा चार आए के समान हो जाएंगे एक कहा चतवा अय एक तीन अंक वाला अय होता है वहां पासा में युवा में इसी प्रकार एवं त्रयो अपर यहां भी तीन हो जाएंगे दो दो त्याग देना तीन तीन बच जाएगा हाँ। और द्वि अंक अय हाँ, एक दो अंक वाला अय होगा पासा होगा वहां एवं यहां भी देखना दो अन्य तीन तीन छोड़ देना दो दो बच जाएंगे यहां भी ऐसा हो जाएंगे पांच में से तीन तीन हटा देना दो दो बच जाएंगे बराबर हो गया ऐसा और एक अंक आया एक अंक वाला भी आया होता पासा होता वहां अच्छा एवं एको अन्य चार चार हटा देना एक एक बचेंगे यहां भी इतम दशा संत तत्कृतम भवती ये दस होते हुए संख्या बराबर होने से इनको जुआ माना जाएगा कृत माने कृत शब्द से उपलक्षित द्यूत है जुआ है कृतगार्थ धुआ भी होता है ऐसा टीका में एक स्थावत अयो द्यूते चतुरंगो दृश्यते जुआ में ऐसा देखा जाता है एक पासा ऐसा होता है चार अंक वाला होता है दृश्यते कहा तद्वत अग्नियादयो बाघादय दृश्यमान चतवार होते दृश्यमान देवता चार है यहां भी माने वायु और अग्नि को प्राण को अलग कर देना ये दोनों पक्ष में चार चार मिलेंगे दृश्यमान देवता चार ही है चार अंक के समान हो गई है ऐसी स्थिति है भगवती ऐसा यथाच द्वितीय त्रेता नाम को अयस्त्रय अंको थे त्रेता नाम के जो अंक होगा वहां युवा में वो त्रेता नाम से कहा जाता है तीन अंक होता है उसमें अच्छा तथा अग्नियादयो बाघाद ऐसे एक एक नस्त्र एक एक कम कर देना उनमें तीन तीन हो जाएंगे यहां भी बराबर है इसलिए द्यूत कहेंगे इनको ये कहते तथा तत्र द्वापर नाम अयोध्या को जाए थे वही उसी प्रकार द्वापर नाम का अयो होगा पासा होगा दो अंक वाला होता है वहां जुआ में तर्वत यहां भी बाघादिशु अग्नियादिशु तो दो दो बरते तो दो दो त्याग देना तो दो दो बचेंगे दो अंक हो जाएंगे दो बराबर दो दो होता तथा तत्र कली संख्या अयो भगवती एकांक और कली नाम का अयो जो होगा अंक वाला होता है वो जो अग्नि नाम ग्रहिता जो अग्नि का ग्रसित ग्रसित खाने वाला भी जो होगा ना वायु और प्राण एक एक होते हैं एक अंग बराबर ग्रसिता वायु बाघादि नाम ग्रसिता प्राणश्च एक यहां भी एक है इसलिए बराबर दस संख्या बराबर हो गया तेभ्यो ग्रस्यमानेभ्यो अन्य तो जो ग्रस्यमान से अन्य है ये ये ग्रसिता है इतम ग्रस्तृत्व ग्रस्यमान और संख्या में दस है कि पांच वो पांच ये दस है ग्रसित्व ग्रसमान दोनों मिला करके दशा दशा समता दो रूप दोनों मिलाने के बाद में दस होते हुए ते पूर्वोत्तम कृतम होते जुआ हो जाता है कृतनाम से उपलक्षित जुआ बन जाते हैं द्यूत से सर्वान अतिरिक्त ये जो जुआ में कुछ भी खाया जाता है गाय को दाव में रहो तो वो भी खाएगा <laughs> जो भी दाव में रहो खाएगा वो मारता है ना उसको द्वित से सर्वांग अतिरिक्त प्रसिद्ध वहां कुछ भी रखो जमीन रख दो खा जाएगा युवा ऐसी चीज है हाँ। युधिष्ठिर ने द्रौपदी को रख दिया दुर्योधन उसे भी खा गया मैंने हारना मैंने क्या खाना है वो जीता खाना होता जीता जीता मैंने खा गया वो द्युत ऐसी चीज है द्युत से सर्वान अतिरिक्त प्रसिद्धिया दश संख्यावताम देवानाम कृतत्व संपादन अतिरिक्त संपादन कहते जुआ जो है जुआ में सर्वान्न अतिरिक्त प्रसिद्ध है भक्षक है होने से क्या होगा दस संख्या बताम देवानाम ये दस संख्या वाला जो देवता है पांच पांच करके लिया हुआ देवता इनमें भी कृतत्व संपादन है ना द्वितत्व संपादन के द्वारा संख्या समान होने द्युत करने से अतिरिक्त इनमें भी अतिरिक्त लाया है रक्षक है ऐसा है अतिरिक्त धर्म आ गया अभी अब क्या लाएंगे अब अब अन्नत्व लाएंगे उनमें द्युत के समान होने से तो अतिरिक्त आ गया अब आगे अन्नत्व लाएंगे इधानी दस संज्ञावत्व नहीं वह दस संख्या है इनमें भी विराट छंद में दस संख्या है इनमें भी दस संख्या विराट छंद को अन्न कहा हुआ है इसलिए अन्न भी है ये बताएंगे बताएंगे <laughs> इधानी दस संख्यावत्व नहीं विराट को संपादन है ना दस संख्या होने से विराट छंद या विराट माने प्रजापति विराट नहीं छंद विराट वेद में छंद है विराट छंद इधानी दस संख्यावत्व विराट को संपादन तेसम अन्नत्व संपादित और अन्न रूप से संपन्न करेंगे पहले अन्नाद रूप से कर दिया अब अन्न रूप से करेंगे यथा इत्यादि यथा एवं तस्मात सर्वासु दीक्षु दशसु अभी दसों दिशाओं में संख्या दस दिशा में अग्नियाद्या बाघाद्या दस संख्या सामान्यात अन्न विभाग अग्नियादि और बाघादि संख्या दस होने के कारण अन्न है ये कहा क्यों दस अक्षर विराट आएगा ठीक है हम कहते हैं अग्नियादिशु बाघादिशु मिलितेशु अग्नियादि बाघादि मिलने पर दस संख्या हुआ खाद्य खादक मिल करके पहले अतिरिक्त रूप मिले और अन्न रूप मिलेंगे उनको दस संख्या वत्व भी कथम अन्य तत्वत्व अन्न में दस संख्या वत्व कैसे आएगा अन्न में अन्न तो एक ही होगा ना ये संख्या है अग्नियादिशु बाघादिश मिलित मिलने पर तो हो रहा दस खाली अग्नियादि तो दस नहीं हो रहा है वहां प्राण को भी लेना पड़ा वायु को भी लेना पड़ा अग्नियादिशु बाघादिशु जो मिलितेशु दस संख्या वत्वे भी सबको मिलने पर दस संख्या होने पर भी शंका कथम अन्य तद्वत्तम दस संख्यावत्वम कथम तद्वत्तम दस संख्यावत्तम कथम दस संख्या वाले कैसे होंगे अन्ना ये शंका तथा कथम संख्या सामान्य सामान्य बा यशाम अथवा संख्या समानता इनमें संख्या की समानता इनमें कैसे होगी ये अग्निवायुवादी में पाठ क्या है इसमें संख्या सामान्य ना तृतीय अंत है तब तो ठीक है संख्या सामान्य ना वही सम्या ऐसा संख्या समान होने से भाई इनमें अन्नत्व संपादन विद्यास कैसे संख्या समान होने से इनमें अन्नत्व कैसे आएगा दो बात है <clears throat> दस संख्या वत्व तो कैसे आना संख्या समान होने से अन्न कैसे कहेंगे इनको ये दो प्रश्न आया तो उत्तर देते हैं दशाक्षरा विराट विराट अन्नम यदि श्रुति दस अक्षर वाला विराट छंद है हाँ। और जो विराट है वो अन्न है ऐसा श्रुति बोलती है कहा विराट दस संज्ञावती प्रसिद्धा हाँ। विराट जो है दस संख्या वाली छंद विराट यहाँ विराट माने स्त्रीलिंग है इसलिए बती बोल रहे हैं दस संख्या वाली प्रसिद्ध विराट छंद छंद है विराट दस संख्यावती प्रसिद्ध विराट छंद दस अक्षर वाली प्रसिद्ध है दशाक्षर है विराट दस संज्ञावती प्रसिद्धा साच अन्नम श्रूयते इति श्रूयते उसको अन्न रूप से सुनाई पड़ता है विराट अन्नम करके श्रुति बोलती है विराट को अन्न कहा है श्रुति ने कहा तथा च यथोक्तेषु अग्नियादिशु बाघादिशु समुचितेशु मिले हुए जो अग्नियादि बाघादि बाघ आदि दस है ये संख्या सामान्य जैसे विराट छंद में दस है और विराट को अन्न कहा हुआ है दस अक्षर वाला है संख्या है वहां और विराट को अन्न कहा हुआ श्रुति ने इसलिए भी यहां भी दस अक्षर है इसलिए ये भी अन्न सामान्य विराटत्म संपाद्य विराट तो अन्नत्व संपाद करेंगे विराटत्व सामान्य विराटत्म संपाद्य अन्नत्व इनको भी विराट मान करके अन्न मानना दस संख्या समान होने से इनको विराट मानना विराट मानने के बाद में वो विराट को अन्न कहा हुआ कि ये भी अन्न हो गए विराट के साथ अभेद करके फिर अन्न मानना ऐसा बता संपादन सुशकम ऐसा किया जा सकता है ये कहा अतः इत्यादि अतो अन्नम एवं संख्या बात इसलिए ये दस भी अन्न ही हो जाएंगे पहले दस द्यूत रूप से तो अत्ता है और विराट रूप से अन्न है है वही दस स्थिति ये कहा तेसु कृतत्व अन्न अतृत्व संपादन घोषणा अब इसमें तेना कृतत्व नहीं ये अतृत्वम ये कोष्टक वाला पाठ सही है कृत होने से अत्ता है वो कोष्टक में तो त्री दिया ना ना जगह में वो ठीक है तेरह कृतत्व न कृत संख्या माने कृत से उपलक्षित द्यूत होने से अतृत्व संपादनों को संग्रति कहा ये अतृत्व वाला पाठ सही है ये कोष्टक वाला पाठ सही है तेरह तेसु उन दस में ये जो बाघादि पांच और अग्नि आदि पांच में कृतत्व कृत संख्या कृत होने के कारण कृत माने दस संख्या से द्यूत है वो द्यूत होने के कारण अतृत्व संपादन उपसंग अतृत्व भी संपादन करते हैं उपसंहार करते हैं अतृत्व जो कहा उसको संपादन उपसंहार करते हैं तथा दस एवं कृतम दस ही जुआ का होता है से भी कहा कृत्य अंतर्भाव कृत में अंतर्भाव होने से ये चतुर अयत मेरा हमने इसको भी चार अय के रूप से कहा भाष्य में बता दिया मैंने चार पासे के समान इनको बताया हमने ये कहा अतृत्व ने पाठ सही है वो मैंने टीका में कहते कृत उपलक्षित कृत शब्द वाच्य से द्यूत ये कृत के द्वारा उपलक्षित है कृत शब्द उपलक्षित है द्यूत है युवा है वाच्य से द्यूत चतुष्ट विशेष तत्व चार संख्या से चार चार भाग में है वो तत्र दस संख्या या सत्व चार भाग में मिलकर के दस संख्या है वहां जुआ में चार पासे में मिलकर के तो चार चार हाँ, चार आए हैं वहां तथा एवं संख्या सामान्य अग्निदय से कृतम भवती ये भी कृत हो जाए ये युवा हो जाएंगे भी तथा से तेसाम अतृत्व उत्तम इसलिए अतृत्व पाठ सही है तेसाम अतृत्व उत्तम अतृत्व भी आ गया हूं मैं माने विराट होने से तो अन्नत्व आ गया और कृत होने के कारण द्यूत होने के कारण अतृत्व आ गया दोनों दोनों बन गए कहा और विराट भी है वो विराट होने से अन्न है इत्यादि कहा था आगे बोलते हैं संप्रति प्रकृतिशु अग्नियादिशु विराटत्व अन्नत्व अतृत्व इति त्रय उपसंग प्रकरण में अगर अग्नियादि देवताओं में तीन धर्म दिखा रहे हैं दिखाया क्या क्या दिखाया विराटत्व और अन्नत्व और अतृत्व ये विराट कहा अन्न कहा पत्ता कहा इनको ये करते हैं विराट दस संज्ञा सती अन्नम च अन्नादी च कृतज्ञ इत्यादि वही जो विराट कहा गया विराट है वह दस संख्या होने के दस संख्या सती सती प्रथमांत दस संख्या वाली दस संख्या होती हुई अन्न है वो सती सप्तमंत नहीं है प्रथमांत है जो स्त्रीलिंग है विराट इसलिए सती तिर गई का दस संख्या सती अन्नम च वो अन्न है और अन्नादि ने तो दिक्कत है तो द्यूतत्व न अन्नादि द्यूत रूप से अन्नादि भक्षक है और इसके भक्त ये भक्ष है विराट अन्न रूप विराट रूप से भक्ष है वो सहिषा विराट ये विराट जो है दस संख्या सती अन्नम च और अन्नादि ने कृत दोनों है वो अन्न भी है अन्नादि मैंने दस तो संख्या विराट छंद के साथ लेकर के तो अन्न है और कृत संख्या के साथ समान करके अत्ता है विराटो होता विधेय या विराट जो है विधेय है इसलिए तस्याश्च त्रिलिंगतया और विराट शब्द स्त्रीलिंग में प्रयोग होता है विराज विराट शब्द विराज सैसा ये विधेय लिंग भाजनम इसलिए सैसा करके जो स्त्रीलिंग दिखाया ना विधेय के लिए लिंग दिखाया स्त्रीलिंग दिखाया सहिषा विराट विराज विराज शब्द जो है त्रिलिंग में प्रयोग होता है इसलिए सहिषा बोला सा ऐसा विराट ऐसा बोला अच्छा भाजनम दशाक्षरो वैदिक शब्द विश्व विराट नाम ये कहा दस अक्षर वाला है वैदिक छंद विशेष है विराट विराट नामक छंद है इत्यादि ये तो हो गया दो नंबर भागित्व कहा इसका अर्थ मतलब दो नंबर में था हाँ मैंने भागी तो विधेय के आधार पर लिंग दिखा दिया यहां सैसा वो विराट का विशेषण है इसलिए त्रिलिंग किया था ते एते प्रकृता देवा विराट इति अवगंतव्या ये प्रकृति देव विराट भी गए दस हमारे विराट शब्द के साथ समान होने के कारण वो क्या होगा ये विराट भी है ये विराट शब्द के साथ समान होने से विराट भी है और अन्न भी है दस संख्या समान होने से अन्न भी है विराट छंद की संख्या के समान करके अन्न है और द्युत क्रीड़ा के संख्या को लेकर के अत्ता भी है और विराट शब्द सोते आया हुआ तीनों है विराट भी है अन्न भी है अन्नाद भी है ऐसा कहा अच्छा सहसा विराट दस संख्या सती अन्नम च अन्नादि च कृतज्ञ वही जो विराट है दस संख्या होती हुई अन्न है और अन्नादीन में च कृतत्व द्युतत्व द्वित संख्या समान होने से वो अन्नादि है और विराट छंद के साथ में समानता होने से अन्न है ठीक कहा दोनों वही है वो विराट ही एक दोनों हुआ कृते ही दस संख्या अंतर्भूता अतो अन्नादि नीच सा कृत माने द्यूत में कृत शब्द से उपलब्ध द्यूत है द्यूत क्रीड़ा में दस संख्या है दस संख्या अंतर्भूता दस संख्या अंतर्भूत है अतो अन्नम अन्नादि नित्य सावन विराट वो विराट जो है अन्न भी है अन्नादि भी है तथा विद्वान वो जो उपासक होगा उसको दिखाई मिलेगा तथा विद्वान माने उपासक दस देवता होता है वो दस देवता स्वरूप है बाघ आदि पांच अग्नि आदि पांच स्वरूप है विद्वान उपासना करते करते वही रूप में है ये बाघ चक्षु श्रोत्र मन प्राण पांच अग्नि आदित्य चंद्र जल आप और वायु पांच तथा विद्वान मैंने उपासक दस देवात्मभूत वो दस देव देवता स्वरूप बना हुआ है बाघ आदि पांच अग्नि आदि पांच के समान स्वरूप बन चुका है वो अच्छा सन ऐसा होता हुआ विराट तो है ना दस संख्या दस संख्या अन्नम और विराट भी है वो तो विराट होने से क्या हुआ दस संख्या से अन्न विराट छंद में दस संख्या होने से वो अन्न कहा है उसको ये भी अन्न घोषित हो गया कृत संख्या या अन्नादि द्वित संख्या को लेकर के अन्नादि भी है विराट ऐसी स्थिति पुरुष भी ऐसे हो जाएगा तया अन्न अन्नादिनी अन्न अन्नादिन्या इदम सर्व जगत दस दिशम दृष्टम कहते हैं तया वो विराट के द्वारा जो विराट है तया मैंने विराट विराट के माध्यम से विराट के माध्यम से अन्न अन्नादि अन्न और अन्नाद भाव विराट में तो दोनों है अन्न और अन्नादि भाव है अन्ना अन्नादिन्या अन्ना और अन्नादिनी ये दोनों के द्वारा तो विराट अन्न भी है अन्नादि भी है विराट उसके माध्यम से विद्वान भी इदम सर्वम जगत दश अधिक संस्थम जगत दस दिशा में सम्मिक स्थित जो जगत जितने दृष्टम उसके द्वारा दृष्ट हो जाता है उपलब्ध हो जाता है कृत संख्या भूत या उपलब्धम कृत संख्या द्युत संख्या के द्वारा सारे के सारे उपलब्ध है उसको एवं विदो अश्य सर्वम कृत संख्या भूत इस प्रकार से जो कृत संख्या समान हो गया दस संख्या से युक्त हो गया जो व्यक्ति दस अधिक संबद्धम दृष्टम उपलब्धम होती दस दिशा में जो मिला हुआ वस्तु संबद्ध वस्तु होगा दृष्ट माने उपलब्धम भवती उपलब्ध हो जाता है सब किंच और भी होगा अन्नादश्च भवती अन्नाद भी होगा अन्नादो भवती आया हुआ है एवं वेद यथोक्तदर्शी इस प्रकार उपासना करने वाला द्वीर अभ्यास उपासना समाप्त करता है इस उपासना की समाप्ति के लिए दो बार कर दिया टीका ते एते प्रेरिता देवा विराट इति अवगंतव्या ये जो देवता है ना विराट हो गए अपने बाहर क्योंकि वो विराट के साथ अवैध होने से विराट है वो छंद को लेकर के वो अन्न है और दूध को लेकर के अन्नाद है तीनों है विराट भी यही देवता है ये दस देवता है अन्न भी यही दस देवता है अन्नाद भी यही है माने वो दो भागों में कुछ अन्नाद है कुछ अन्न है ऐसी स्थिति में है सब यही है कहा ते ये ते देवता ये दस देवता जो आए हैं यहाँ कथन है विराट यदि अवगम करते इनको विराट समझना चाहिए कहा साच दस का दस संख्यावती भवती वो जो विराट है दस देवता वाली है वाला क्योंकि दस संख्या वाली भवती अन्नम वो अन्न हो जाती विराट भवती अन्नम अन्न हो जाती हो जाता है इति देवता नाम अन्न प्रसिद्ध जो विराट अन्न हो गया तो देवता भी उसे अभेद अन्न हो गया अन्नादि इत्यस्य विराजा संबंधात अन्नादि नीति व्याख्यान अन्नादि शब्द है किंतु उसका विराज के साथ संबंध से स्त्रीलिंग है तो रेंडियो को नीप लगाना पड़ेगा अन्नादि नहीं बोलना पड़ेगा त्रिलिंग होता तो अन्नादि होता या स्त्रीलिंग है इसे अन्नादि नहीं बोलना पड़ेगा ये कहा अन्नादि इत्यस्य हाँ, अन्नादि का अर्थ कर दिया कि अन्नादि में अन्नादि इत्यस्य विराजा संबंधात विराट के साथ संबंध होने से अन्नादि ने इति व्याख्या उसका अन्नादि ने व्याख्या कर दी <clears throat> अन्नादि ततच देवतात्मिका विराट कृतत्व अन्नादि ने अच्छा तो देवता स्वरूप जो विराट है कृत रूप से क्या होगा अन्नादिनी इति तदात्मकानी तदात्मका नाम अग्नियादि नाम अपनी अतृत्व सिद्धि करता है वो जो विराट जो है कृत रूप से अन्नादि है वो खाने वाला है विराट माने जुआ रूप से है वो संख्या समान होने से अच्छा और तदार मजा यानी विराट के स्वरूप है ये देवता सारे दसों देवता विराट स्वरूप होने से अग्नियादि नाम अपनी अतृत्व सिद्धि विराट के अतृत्व होने से ये भी अपता हो जाएंगे दस देवता भी क्यों संख्या समान होने के कारण विराट अत्ता है दस अक्षर वाला है वो विराट छंद और वो द्यूत में भी दस संज्ञा है समान होने से अत्ता हो गया और विराट के साथ अभेद होने से देवता भी अत्ता हो गया ये कहा विराट अन्नत्व तो अन्नत्वम कृतत्व अतृत्व च हाँ, देवता में दो धर्म आ जाएगा विराट रूप से देखेंगे तो अन्नत्व है और कृत हमारे जुआ के रूप से देखेंगे तो अतृत्व है विराट को तो अन्नत्म कृतत्व अतृत्व संपत्ति द्वयम अग्नि आदि दर्शन भोक्षण आदि तो में दो संपत्ति दिखा दिखाते हुए उपसंगार करके दिखाया था उसके संकृत्य ही कहा कृत्य ही दस संख्या अंतर्भूत माने जुआ में दस संख्या अंतर्भूत है कृत माने जुआ उसमें दस संख्या है अंतर्भूत अतो अन्ना अन्नम अन्नादि विचसा इत्यादि का टीका में कहते हैं कृत उपलक्षित द्वितीय कृत शब्द से है कृत माने होता है पासा का नाम है कृत चार पासा में से एक पासा कृत नाम का है ऐसा आया था ना चार पाशा में एक पाशा कृत नाम कहते हैं कृताय विजिताय अधरे असमेंद्र भी कहा था तो कृत से उपलक्षित द्यूत है वो द्यूत क्रीड़ा में कृत नाम के पाशा की चर्चा आती है द्यूत है कृत नाम का कृत उपलक्षित है द्यूते कृत शब्द से उपलक्षित द्यूत है द्यूते दस संख्या अंतर्भूता प्रसिद्ध दस संख्या होते हैं उसमें उस कृत में दस संख्या होते हैं पाशा सात सौ अग्नियादो दर्शन अग्नियादि में दस संख्या है इसलिए तथा च संख्या सामान्यात संख्या बराबर होने से कृत में जो संख्या अग्नि में भी संख्या दस है होने से द्यूतगत गतम अतृत्व अग्नि से संपादित है द्यूत में आने वाला द्यूत सबको खाता है उसमें जो अतृत्व अग्नि में भी है तेरह इनम दशकम अन्नादि उचित इसलिए दस को ये दस को दस के समुदाय को अन्नादि कहा जाएगा देवताओं को कहा विराट वेदे दस संख्यावती उत्तम विराट को वेद में दस संख्या वाली कहा है विराट छंद को साच अन्नम विराट अन्नम यदि उत्तत्व वो जो विराट है अन्न है क्यों विराट अन्नम ऐसा वेद में कहीं मंत्र आया विराट को अन्न कहा है तथा से विराट है देवताओं को भी विराट संपत्ति करके एकता करके विराट के साथ एकता करके भवती प्रकृतम दशकम अन्नम इत्यर्थ ये दस अन्न भी हो जाते देवता सगुणम संवर्ग दर्शन तत्फलम वक्तुम विद्वत स्वरूप संग्रह सगुण जो संवर्ग उपासना कथन करके अब उसका फल कहने के लिए माने उस उपासक के स्वरूप का कथन करते हैं श्रुति कथन करते हैं तथा इत्यादि का तथा विद्वान जब उपासक है दस देवता अनुभूत और दस देवता स्वरूप है वो अग्नि आदि वायु आदि दो दस देवता स्वरूप है यथा आदि नाम विराट अन्नत्व तुम टीका में कहते हैं जिस प्रकार अग्नि आदि में विराट रूप से अन्नत्व है और कृतत्व न तो अन्नादत्व और द्यूत रूप से अन्नाद है वो विराट छंद को देखते हैं तो अन्न है और द्यूत रूप से देखते हैं दस संख्या को तो अतृत्व है जैसा है तथा वायुम अग्नियादि आत्मकम प्राणम च भागादि आत्मकम एकीकृत्य और इस प्रकार वायु जो अग्नियादि स्वरूप है और प्राण जो है बाघादि स्वरूप को एक करके आत्मत्वेरा विद्वान जो अब आत्मभाव से उपासना कर रहा है उनको ये कहते हैं आत्मत्व विद्वान आत्मभाव से प्राप्त होने से विद्वान में उपासक देवता स्वरूप होता है और वो आत्मभाव से उपासना कर रहा है इसलिए दस देवता स्वरूप बना हुआ है वो उपासक होता है दस संख्या विराट तो है ना अन्नम दस संख्या यहां भी आ गया विद्वान में भी माने स्वयं तो एक है वो किंतु वो दस देवता का अपने आत्मभाव कर रहा है इसलिए दस हो गया इसलिए दस संख्या होने के कारण विराट तो अन्नम विराट रूप से देखें अन्न माना जाएगा ये और कृत शब्दितम और कृत शब्द से कहा गया द्यूत होता है वो उसकी संख्या दस है तदगत दस संख्या अवच्छिन्नतया द्यूतगत दस संख्या से विशिष्ट होने से कृतत्व ने कृत हो गया वो भी ये उपासक भी होने से अन्नादि गई अन्नादि भी हो जाता है फल उक्ति उपयोगित्व अर्थांतर वहा फल तो कथन हो गया और उपयोगी रूप से अन्य अर्थ भी बताते हैं तया इत्यादि तया उस विराट के साथ अन्नादि न्याय इदम सर्वम जगत दस अधिक समस्तम कृतम दृष्टम कृत संख्या भूतया उपलब्ध इत्यादि वो विराट ने सब कुछ उपलब्ध किया है दस संख्या के द्वारा इसी प्रकार ये भी सबको उपलब्ध करेगा ये है ये कहना चाहते टीका में कहा कृत उपलक्षित द्यूत संख्या छिन्नत्व कृत शब्द के द्वारा कहा गया जो द्यूत संख्या है जुआ का संख्या दस उसे विशिष्ट होकर के अवस्थितया विशिष्ट होने से अन्नत्व अन्नादित्व व्यवस्थितया विराजा अन्न और अन्नाद भाव से व्यवस्थित होने विराट के साथ सर्वम इदम जगत दशस्व दीक्षु शास्त्रम दृष्टम उपलब्ध होती है विराट के द्वारा सब उपलब्ध हो जाता है विराट को कोई छिपा हुआ नहीं होता जगत नहीं देवता दशकम हित्वा जगन नाम किंचित ये दस देवता को छोड़ करके जगत नाम के कोई वस्तु नहीं मिलेंगे अग्नि आदि पांच बाघ आदि पांच को छोड़ करके कोई मिलने वाली नहीं तथा च दृष्टि देवता दस के जो तो देखा हुआ जो दस देवता है यहाँ इनमें दृष्टम एवं सर्वम जगत ये दस देवता के देखने पर सब जगत देखा गया ये स्थिति हो जाती है ये दस देवता से अतिरिक्त जगत नाम की वस्तु नहीं इसलिए दृष्टि देवता दस के देख, देखे जाने पर दस देवता देखे जाने पर क्या होगा दृष्टम एवं सर्व जगत सारा जगत जगत उसको उपलब्ध हो गया दस देवता उपलब्ध हो गए तो सब उपलब्ध हो गया ये कहा भूमिका एवं कृत्वा विद्या फलम तरसी तो भूमिका बनाई इस प्रकार अब उपासना का फल बताते एवं विदो अश सर्व कृत कृत संख्या भूत दस अधिक संबद्धम दृष्टम उपलब्धम दृष्ट मैंने होती भवती दस दिशाओं में जो भी वस्तु होगा उसको उपलब्ध हो जाता है ठीक है क्या वायु प्राणम अत्तारम दस देवता में दो तो अत्ता है खाने वाले हैं वायु और प्राण वायु और प्राणम अध्यात्म में प्राण है अजय में वायु है ये भोक्ता है ये कारण आत्मत्व न अपने से अभिन्न रूप से देख रहा है वो व्यक्ति नहीं वायु प्राण को अपने से भिन्न नहीं देख रहा है आत्मत्व न से देखने वाले के कृत संख्या वच्छिन्नत या द्वित संख्या विशिष्ट होने से स्थितस्य अद्वित संख्या से विशिष्ट होकर के बैठा हुआ व्यक्ति का दस देवता भूत देवता रूप में है वो सर्वम जगत दृष्टम होती सारा जगत दृष्ट हो जाता है उपलब्ध हो जाता है उसको इष्ट देव दृष्ट देवता अतिरिक्त से जगत अभाव दृष्ट देवता दस ही है दस से अतिरिक्त उस माने उसके उपलब्धि देवता दस है उससे अतिरिक्त जगत है ही नहीं यो दर्शी स प्राणो भूतवा सर्वत्र अन्नादर्श होती और अन्नाद भी होगा प्राण बन करके सर्वत्र अन्न अन्नाद भी होगा सभी शरीरों में खाने वाला वही माना जाएगा प्राण रूप में है तो सभी शरीर में एक ही प्राण होगा ये कहा यदि फलांतरम अन्य फल को दिया इस तरह से उपासना पूरी हो जाती है ओमात्यायम तुम अंगानी वाक्सान बलिया सर्वाणी सर्व ब्रह्मोपनिषद ब्रह्म विरा हम यात्रा में जाने वाले हैं तो बारह तेरह तारीख तक आने की संभावना है जैसा होगा आने पर ही पाठ होगा तब बंद रहेगा